प्राणध्वनि ओ द्वितीय समाधान में प्रश्न है प्रवचन में एक दिन सुना था कि ईश्वर मुक्तात्माओं को सृष्टि प्रलय अवस्था में भी आनंद प्रदान करता है ईश्वर मुक्तात्माओं को आनंद प्रदान करता है एक तो यह है ही बात मुक्तात्माओं के अतिरिक्त आत्माएं जन्म लेती रहती हैं वो सृष्टि का काल होता है और उस सृष्टि काल के साथ प्रलय भी माना जाता है सृष्टि बनेगी कुछ समय बाद में चार अरब बत्तीस करोड़ के बाद में फिर तो प्रलय होगी तो जिस समय प्रलय होती है उस समय भी परमात्मा मुक्तात्माओं को आनंद देता है ये उस प्रसंग की बात थी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि यदि हम समस्त जगत की कार्य जगत की प्रलय माने एक साथ तो एक तो ये दोष आएगा कि परमात्मा फिर उतने काल बिना काम के रहेगा बिना कार्य के रहेगा क्योंकि तो सब तो प्रलय को हो गया दूसरा पक्ष ये मानते हैं कि खंड प्रलय खंड प्रलय उस रूप में कि यहां प्रलय हो गई दूसरी जगह सृष्टि चल रही है जन्म मृत्यु चल रहे हैं शरीर चल रहे हैं जीव जंतु हैं वहां प्रलय हो गई कहीं और चल रहे हैं अर्थात कहीं ना कहीं ये जन्म मरण शरीर का धारण होना मरना ये चलता रहता है एक पक्ष ये था दूसरा पक्ष है कि नहीं जिस समय सृष्टि का काल है उसी समय समस्त ग्रह उपग्रहों में ये चलता रहता है और प्रलय काल में सब समाप्त हो जाता है यानी पूरा पूरी सृष्टि पूरा कार्य जगत जितने भी लोक लोकांतर हैं आकाश गंगाएं हैं सब सत्वर स्तंभ में लीन होती हैं ये विषय हमारी पिछली वैदिक आध्यात्मिक न्यास की गोष्ठी जो अजमेर में हुई थी उसमें एक सत्र का ये विषय भी था और शंका इसलिए थी कि वैज्ञानिक इस तरह की बात रखते हैं कि कहीं कोई सूर्य उग बन रहा है अभी इस ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं में कोई युवा अवस्था में कोई वृद्ध अवस्था में है कोई क्षीण हो गया कोई ब्लैक होल बन गया कोई दैत्याकार हो गया यानी बहुत बड़ा हो गया जेंट है हाँ, यानी उसको विस्तार को फैल जाता है वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया वो भी एक नाश की प्रक्रिया है कोई बहुत सिकुड़ जाते हैं इत्यादि बातें आधुनिक विज्ञान की तरफ से आती रहती हैं तो ये संदेह उत्पन्न होता है कि हमारे यहाँ चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष में प्रलय की बात कही गई तो प्रलय केवल इसी सौर मंडल की है या तो सब आकाश गंगाओं में सब सौर मंडलों की सब पृथ्वियों की ऐसी है इस बिंदु पे वहां पर वो चर्चा चली थी और उसी संदर्भ में मैंने एक बात रखी थी कि अगर कोई ये कहता है कि परमात्मा प्रलय अवस्था में निठल्ला हो जाता है कोई कार्य नहीं रहता क्योंकि सृष्टि नहीं चल रही है उस पक्ष में तो तब ये एक बात कही थी कि मुक्तात्माओं को आनंद देने वाला कार्य तो उसका फिर भी रहता है निठल्ला तो फिर भी नहीं हुआ हुआ ठीक है उस बात पर इनका प्रश्न है कि प्रवचन में एक दिन सुना था कि ईश्वर मुक्तात्माओं को प्रलय अवस्था में भी आनंद प्रदान करता है तो यहां एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि प्रलय अवस्था में कहां से और कैसे आनंद प्राप्त होगा क्यों ऐसी शंका पैदा हुई इनको इन्होंने ये वाक्य कहा क्या मान करके कहा इन्होंने जब सब चीज प्रलय हो गई तो आनंद मिलेगा कहां से अभी आनंद कहां से मिलता है संसार से कार्य जगत से वो सब प्रलय हो गई तो आनंद कहां से मिलेगा यही है ना आपके पीछे आनंद हड्डी आनंद कहाँ से मिलेगा ये प्रश्न है इनका कहना है कि आपने कह दिया ईश्वर से मिलेगा ईश्वर कहाँ से देगा ईश्वर तो खुद आनंद रूप है नहीं इनके पीछे मन में क्यों प्रश्न ये उठा उस पृष्ठभूमि को भी देखिए कि अभी ईश्वर हमारे को सुख दुख देता है कर्मफल देता है यह मान के चलते हैं कैसे देता है शरीर दे के सुख साधन दे करके ऐसे ही तो देता है यानी जितना परमात्मा सुख हमारे को कर्म फल देता है उसमें प्रकृति जुड़ी हुई है यानी कार्य जगत जुड़ा हुआ है शरीर है खाद्य पदार्थ है और वस्तुएं जितनी भी भोग सामग्रियां हैं तो परमात्मा जितना सुख और दुख देता है दुख को अभी हटा दें या आनंद का विषय तो सुख ले लिया वो प्रकृति के माध्यम से देता है और हमें प्रकृति से सुख मिलता है ठीक है ये इनके मन में बात बैठी हुई है इतने अंश में ठीक भी है ये पर इसके साथ इन्होंने क्या मान लिया कि ईश्वर स्वयं सुख नहीं दे सकता वो प्रकृति से ही दे सकता है जब भी देता है प्रकृति से देता है ये मन में था इसलिए प्रश्न उठा कि जब प्रलय हो जाएगी सारी कार्य जगत नहीं रहेगा तो परमात्मा आनंद कहां से देगा ठीक है तो उत्तर तो इन्होंने दिया परमात्मा जो आनंद देता है मुक्त आत्माओं को वो प्राकृतिक सुख नहीं होता है वो परमात्मा का अपना आनंद होता है प्रकृति से जो हम सुख लेते हैं इंद्रियों के माध्यम से ये प्रकृति का होता है ये ईश्वर का नहीं होता है ये ईश्वर की व्यवस्था से हमें मिलता है इतना तो ठीक है लेकिन ये सुख जो प्रकृति में हम लेते हैं जड़ वस्तुओं से लेते हैं वो होता प्रकृति का ही है ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत मिलता है लेकिन ईश्वर का सुख या आनंद नहीं होता मुक्तावस्था में जो आनंद मिलता है वो परमात्मा अपना आनंद देता है प्राकृतिक पदार्थों की वहां आवश्यकता ही नहीं होती है इसलिए प्रलय अवस्था में भी जबकि कोई कार्य वस्तु विद्यमान नहीं रहती है तब भी परमात्मा आनंद दे सकता है रसो वही सह तो परमात्मा कैसा है रस रूप है रसे न तृप्त रस से तृप्त है रस से युक्त है ठीक है एक ही बात है तो कहा से आ, कैसे आनंद प्राप्त होगा तो ईश्वर से ही प्राप्त होगा क्योंकि इन्होंने आगे लिखा देखो वहां कुछ भी तो नहीं है जिससे आनंद लेगा चूंकि अभी हम प्रकृति से जुड़ करके ही आनंद लेते हैं इसलिए इनके मन में क्या बैठा हुआ है प्रलय अवस्था में तो कुछ होगा ही नहीं वो न्याय दर्शन वाले सूत्र में भी तो कुछ ऐसी बात थी तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग तो भयंकर है क्यों भयंकर है मुक्ति क्योंकि इन सब सुख साधनों का अभाव हो जाता है वहां पर कुछ उस तरह की बात आपके मन में है यदि उस समय भी वही आनंद मिलता है तो खंड प्रलय मानी जानी चाहिए अब इनका अधिकरण सिद्धांत समझो ये तो जो बोल रहे हैं इसकी पृष्ठभूमि इनकी क्या है पक्का हो गया ना इनका कि यदि आनंद मिलता है आप ऐसा मानते हो तो फिर खंड प्रलय माननी चाहिए खंड प्रलय मतलब पूरी प्रलय नहीं होती खंड प्रलय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये लेकिन इनका तात्पर्य क्या बताने में कि उस समय भी सृष्टि चलती रहती है कहना ये चाहते हैं खंड प्रलय होगी तो यहां होगी प्रलय वहां कहीं चलता रहेगा और वहां जो कार्य जगत है उससे परमात्मा आनंद देता रहेगा ऐसा इनका मन में तो इसमें सिद्धांत क्या है परमात्मा का अपना आनंद होता है वो देता है उसके लिए उसे प्राकृतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती ठीक है इसी में बोलो हाँ हमारे लिए नहीं है ठीक है अगला प्रश्न बोलो आगे <laughs> इतना तो हो गया <laughs> एक प्रश्न प्राय आता है कि जब परमात्मा आनंद स्वरूप है और सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक है तो जहां जहां है वो वहां वहां उसके सब गुण भी हैं यानी आनंद भी है तो हम जहां पर है वहां भी परमात्मा है और उसका आनंद भी है लेकिन फिर भी हमारे को आनंद नहीं मिल रहा है अग्नि में लोहे का गोला जाएगा तो गर्म होगा ना ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो हो ही अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि अग्नि नहीं है वहां पर अब हम तो आनंदित नहीं हुए परमात्मा के आनंद से तो इसका मतलब है कि या तो परमात्मा में आनंद नहीं है वहां पर अथवा तो कोई दूसरी चीज है ये तो प्रश्न नहीं उठा था आपको ऐसा प्राय उठता है ऐसा पूछा भी जाता है कई बार शिविरों में भी ब्रह्मचारी लोग भी पूछते रहते हैं नए नए उसका उत्तर ये होता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है और वो आनंद उसके पूरे नियंत्रण में भी है वो जिसको देगा उसको देगा नहीं देगा तो नहीं देगा अग्नि में जैसे आग लोहे का गोला गया तो अग्नि के नियंत्रण में अपना ताप नहीं है कि वो चाहे तो गोले को गर्म करे और चाहे तो ना करे ऐसा उसके पास नियंत्रण नहीं है अग्नि के पास में वहां तो जो भी गोला लोहे का गोला अंदर जाएगा वो गर्म होगा वो जड़ वस्तु है परमात्मा का आनंद ऐसा नहीं है परमात्मा चेतन है और उसके नियंत्रण में है वो वो जिसको देता है उसको देता है जिसको नहीं देता है तो हम उस आनंद में रहते हुए भी आनंद को नहीं पा जल बीन जल अचरज है जल में रहते भी मछली को प्यास है हाँ नहीं एक और भी वो लोकोक्ति है जल भी जल बिन मीन प्यासी हाँ तो वो परमात्मा के नियंत्रण में वो उत्तर आता है ठीक है आगे चलें दूसरा प्रश्न इसमें कुछ पूछना है बोलो साथ मान एक साथ तो प्रलय हाँ। तो कर दिया बिल्कुल है वो भी आर्यभिनय में भी वो आ गया था महर्षि का वचन वो भी एक उत्तर है पर ये तो मैंने केवल संदर्भ बताया था कि इन्होंने वो प्रश्न कहाँ से उठाया पीछे जो चर्चा चली थी उसमें से इन्होंने वो उठाया वो पृष्ठभूमि केवल बता रहा था आपने जो बात कही वो भी बात है कि प्रलयावस्था का मतलब ये नहीं कि वो सुप्त छोड़ दिया प्रलयावस्था में भी प्रति प्रसव चल रहा होता है यानी विघटन है अगला निर्माण होगा करेगा उससे संबंधित भी कार्य हो सकते हैं एक प्रलयावस्था में क्या स्वरूप रहता है उसकी एक परिकल्पना के आधार पर यह उत्तर है दूसरी परिकल्पना में ये उत्तर नहीं बनेगा जैसे तो ये आप नया प्रश्न कर रहे हो फिर और करेंगे इसका उत्तर सोमदेव जी लिख रहे हैं परोपकारी में आएगा वो भी ले लेंगे हाँ अब बोलो केवल उसी विषय से संबंधित पूछना है जैसे लोहे का गोला हम ये किस तरह का भी कह सकते हैं जैसे जैसे लोहे के गोला अग्नि के संपर्क में आता है वैसे लाल होता है वैसे जीवात्मा रहते हुए आनंद की उपलब्ध जब जैसे जैसे परमात्मा के आनंद भक्ति में निकट पहुंचते इनका ये कहना है कि जैसे जैसे लोहे का गोला अग्नि के निकट जाता है ऐसे ऐसे वो गर्म होने लग जाता है तो ऐसे ही हम जैसे जैसे परमात्मा के निकट चले जाते हैं जैसे जैसे मतलब जितने जितने और परमात्मा के निकट जाने का मतलब है उस जैसे गुणकर्म स्वभाव उसकी आज्ञाओं का पालन इत्यादि वो होते जाते हैं तो आनंद मिलता जाता है ठीक है इसमें उत्तर देने में हम दे सकते हैं वो न्याय दर्शन की दृष्टि से देखें तो इसमें दृष्टांत का वैषम्य है लोहे और अग्नि में जो निकटता और दूरी है वो किस चीज की है स्थान की आप यही तो दृष्टांत दे रहे ना कि लोहे का गोला जितना जितना निकट आता जाता है ये दृष्टांत कैसा है स्थान की दृष्टि से गति आप मान करके बोल रहे हैं अच्छा परमात्मा में ये घटता नहीं है क्योंकि वो सर्वव्यापक है इसीलिए तो प्रश्न उठा उठता है ये कि सर्वव्यापक परमात्मा में रहता हुआ आत्मा आनंद क्यों नहीं प्राप्त करता तो वो निकटता और दूरी आपने दूसरा अर्थ लिया गुणवत्ता की दृष्टि से वहां स्थान की नहीं है तो इसलिए ये दृष्टांत वैषम्य है तो ये ये प्रतिज्ञा भेद है ये विषयांतर है न्याय दर्शन की दृष्टि से कहूं इन्होंने बात रखी कि भाई लोहे का गोला भी अग्नि में जाने पे एकदम तो नहीं हो जाता तो ठीक है नहीं हो जाता कौन मना कर रहा है कि एकदम हो जाता है या धीरे धीरे होता है और उसका हमारे मूल विषय से कोई संबंध नहीं है संबंध केवल इतना है कोई कह सकता है कि हम अग्नि शब्द है और वहां लोहा शब्द है लेकिन ठीक है समय लगता है उसमें लेकिन वो जाते ही मिलने तो लग जाता है ना गर्म तो होने लग जाता है ना उसी समय पूरा लाल होने में भले ही समय लगता हो वो अलग बात है लेकिन प्रश्नकर्ता केवल ये कह रहा है कि जैसे लोहे में लो अग्नि में लोहा होता है दोनों एक देशी है ठीक है इस दृष्टि से दृष्टांत वैषम में नहीं होता है कि भाई परमात्मा तो सर्वव्यापक है और आत्मा एक देशी है और यहाँ दृष्टांत में अग्नि भी एक देशी है और लोहा भी एक देशी है बोले दृष्टांत वैषम है इसको दृष्टांत वैषम में नहीं कहेंगे अग्नि में लोहे का गोला इसका मतलब अग्नि और लोहे का संपर्क है दोनों साथ साथ है इधर परमात्मा और आत्मा का संयोग है दोनों साथ साथ हैं बस इतना दृष्टांत है कि जिस चीज के निकट हम रहते हैं उसके गुण हमारे में आते हैं तो जब हम परमात्मा के अंदर हैं तो परमात्मा का गुण आनंद भी ले लीजिए ज्ञान भी ले लीजिए और भी जो चाहे ले लीजिए वो हमारे में क्यों नहीं आ जाता ये क्या ये सारी बात है ना हाँ, जो परमात्मा में यद्यपि स्थित है परंतु उसकी सत्ता उसका आनंद स्वरूप हमें जाने तो एक तरह से पूरी हम जाने या ना जाने लोहा जाने या ना जाने कि अग्नि गर्म है या नहीं है उसको तो गर्म होना ही है क्योंकि उसके गुण की निकटता है हम जाने या ना जाने ये आध्यात्मिक दृष्टि से जो आप उत्तर दे रहे हो वो ठीक है कि हम जैसे जैसे परमात्मा के निकट जाते हैं यानी निकट का मतलब गुणों की दृष्टि से शुद्ध होते हैं अपने अंतकरण को पवित्र करते हैं वैसे वैसे पूरे पवित्र हो जाते हैं तो परमात्मा अपना आनंद दे देता है उसमें ले वहां भी परमात्मा आनंद देता है तब हमें मिलता है हम ले नहीं सकते हम ले नहीं सकते वो उसका अधिकार है वो देता है तो हमें मिलता है ठीक है अब वो प्रश्न में प्रश्न वो तात्कालिक प्रश्न वो ये ऐसे प्रश्न होते हैं तात्कालिक <laughs> हाँ। एक इन्होंने उदाहरण दिया देखो <laughs> बात को समझाने के लिए तो ठीक है वो एक अंश में पर पूरी तरह नहीं घटेगा उदाहरण देखो इन्होंने कहा कि भाई परमात्मा का आनंद तो सदा बरस रहा है सदा बरस रहा है जैसे कि बारिश हो रही हो पर हमने छाता लगा रखा हो तो हम उस पानी का लाभ नहीं वृष्टि का लाभ आनी स्नान नहीं कर पाएंगे वृष्टि में पानी हमारे को नहीं लगेगा यानी हमने रुकावट पैदा कर रखी है ऐसे ही हमने मलिन चित्त के द्वारा मलिनता अज्ञानता आदि दोषों के द्वारा बाधा खड़ी कर रखी है परमात्मा का आनंद लेने के लिए ठीक है हमने बाधा खड़ी की है इसलिए नहीं मिल रहा है जिस जैसे हम छतरी हटाएंगे तो बारिश का पानी तो आ ही जाएगा वो तो सदा ही विद्यमान है बारिश तो हो ही रही है हमें छतरी हटानी है दृष्टि का आनंद लेंगे ऐसे ही हम अपने मलिनता को हटा देंगे परमात्मा का आनंद आने लग जाएगा तो परमात्मा कोई तब देगा ऐसा नहीं वो तो दे ही रहा है वो तो सतत दे ही रहा है हम नहीं ले रहे एक कथन एक दृष्टि परमात्मा के प्रति और भाव इसको कई जने दूसरे शब्दों में भी कहते हैं ये तो ठीक है वो कहते हैं कि भी परमात्मा देता है तभी हम लेते हैं तो परमात्मा सदा देने को तैयार बैठा है देने के लिए वो सदा उद्यत है वो तो उद्यत है हमारी स्थिति नहीं है कि हम ले रहे हैं फिर वो रेडियो ट्रांजिस्टर और वो सब उदाहरण भी होते हैं कि वो जो विकिरण होते हैं यानी किरणें जो होती हैं तरंगे होती हैं वेव्स जो होती हैं वो तो सब जगह विद्यमान है यहाँ पर सब चैनल की है लेकिन हमने ट्यूनिंग ठीक नहीं कर रखी है तो ठीक जगह नहीं लग रखा है तो हमारे को पकड़ में नहीं आता है ये भी एक समझ केवल कुछ कुछ अंशों में समझाने के लिए उदाहरण है लेकिन वहां अगला व्यक्ति तत्काल प्रश्न नहीं करेगा तो भाई वृष्टि तो ऊपर से नीचे आ रही थी वो एक देशीय छतरी ने रोक लिया लेकिन परमात्मा तो सब जगह है वहां तो आप बारिश वाला उदाहरण नहीं दे सकते बारिश वाला कैसे बाधा करोगे आप भाई बारिश एक देशी है ना इसलिए तो हम छतरी से रोक लेते हैं लेकिन परमात्मा को बीच में कोई ऐसा छतरी जैसी मलिनता बीच में आ जाए जैसे कि चश्मे के ऊपर या आंख पे गंदगी आ गई और हम उधर का नहीं देख पा रहे हैं ठीक है मलिनता आ गई देख नहीं पा रहे हैं संपर्क नहीं हो पा रहा है ऐसा तो परमात्मा के साथ हो नहीं सकता आप यहाँ कोई मलिनता आ भी गई मन की तो परमात्मा इधर भी तो है दूसरी तरफ और आत्मा के अंदर भी तो है सब जगह है ना सब जगह है इसलिए वहां वो प्रश्न फिर कर देगा अगला व्यक्ति जी छतरी वाली बात नहीं यहां तो परमात्मा के लिए तो कोई छतरी हो ही नहीं सकती आप बारिश के लिए छतरी कह सकते हो परमात्मा के लिए क्या छतरी होगी ये विशेष देखने की बात होती है कि दृष्टांत की क्या चीज घटाएं और क्या चीज नहीं घटाएं इसमें बहुत सूक्ष्मता रहती है क्योंकि दृष्टांत के पूरे धर्म तो घटते नहीं ये सबको पता है एक अंश में ही घटते हैं लेकिन वो एक अंश कौन सा है कौन सा घटना चाहिए कौन सा नहीं घटना चाहिए इसलिए मैंने पहले आपको जो बताया उस छतरी वाले दृष्टांत की सार्थकता क्या है वो मैंने पहले बता दी थी आपको कि वक्ता का अभिप्राय इतना लें कि मन मलिन है इसलिए हमें आनंद नहीं मिलता इतने तक है चलेगा लेकिन कोई तत्वता यूं परीक्षण कर रहा है कि जिसके निकट हम रहते हैं उसका गुण मिलता है जैसे लोहे का टुकड़ा अग्नि में गर्म होता है तो हम भी तो परमात्मा में ही हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा आप कहोगे कि मलिनता के कारण रुकावट है बोले रुकावट की बात तो कब आएगी जब एक देशी होगा वो तर्क करेगा अगला व्यक्ति परमात्मा तो आत्मा के अंदर विद्यमान है आप रुकावट डालोगे कैसे क्या रुकावट डालोगे जैसे बारिश में तो आपने छतरी लगा ली और आप समुद्र में जाकर के छतरी लगाओगे समुद्र में छतरी का क्या प्रयोजन है हैं? वो तो पानी तो सब तरफ से है नीचे से है समुद्र में अंदर कह रहा हूं पानी के अंदर बाहर नहीं आप समुद्र में ऊपर तो हो और बोले समुद्र मैं हूं और वहां भी तो छतरी का प्रयोजन है नाव में बैठे हो ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं <laughs> मैं कह रहा हूं पानी के अंदर हो आप जैसे बारिश से भीगने से बचने के लिए हम छतरी का प्रयोग कर लेते हैं ऐसे पानी के अंदर हो जहां हमारे चारों तरफ पानी हो वहां उस छतरी का क्या मतलब है कुछ नहीं क्योंकि वो हो भी तो भी दूसरी जगह से पानी आएगा इसी तरह परमात्मा जब सर्वव्यापक है कोई मलिनता कोई रुकावट कोई छतरी आप कुछ भी कर लो दूसरी तरफ से तो कहीं से तो परमात्मा है ही सब जगह है तो इतने मात्र से वहां हम संतुष्ट नहीं कर सकते वहां एक ही उत्तर देना पड़ता है कि परमात्मा का आनंद उसके नियंत्रण में है वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे योग्य को देता है योग्य को नहीं देता है पात्र को देता है अपात्र को नहीं देता है ये वहां पर आएगा ठीक है संयोर अभिश्रवंतु न वो कल्याण हमारे लिए बरसे इससे आपके दृष्टांत का खंडन हो रहा है अपना जो इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया था स्वविरोधी विरुद्ध बोल रहे हैं इसको हम कैसे घटाएंगे <laughs> इन्होंने वो छतरी वाला और वृष्टि वाला उदाहरण क्या दिया था कि उसकी बारिश तो सदा हो रही है छतरी हमने लगा रखी है और यहाँ क्या प्रार्थना की शयो शय अभिश्रवंतो न हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा की सुख की वर्षा होवे हो नहीं रही है होवे ऐसा आपके शब्दों से ऐसा ले सकते हैं हालांकि इसके भी बहुत सारे अर्थ हैं आप उत्तर दे सकते हैं पर उधर आपका प्रस्तुति कैसी थी कि वृष्टि तो उसकी सतत हो रही है हमने छतरी लगा रखी है तो वहां प्रार्थना आपके पक्ष में होनी चाहिए कि हम अपनी छतरी हटा ले हुए हैं <laughs> ऐसी प्रार्थना तो होगी कि परमात्मा बारिश करो ऐसी तो ना प्रार्थना करेंगे चलो अब आगे चलते कर्मफल का ही विषय है इनका जब कोई जाति समाप्त हो जाती है जाति से इनका मतलब है जैसे मनुष्य जाति पशु जाति इन्होंने खासतौर से गिद्ध का उदाहरण दिया है गीत गिद्ध बोलते हैं वैसे लौकिक भाषा में गीध भी बोलते हैं गुजराती में गीध बोलते हैं गिद्ध को गीध अच्छा हिंदी में वैसे गिद्ध शब्द इसका इसका प्रचलन होता है तो जब कोई जाति समाप्त हो जाती है तो जो ईश्वर दंड देता है उसका क्या होगा इनके अधिकरण सिद्धांत को समझना ये कहते हुए इनके मन में क्या भाव है क्यों ये वाक्य बोल रहे हैं जो बात इन्होंने यहां नहीं कही है वो इनके इनका कौन सा सिद्धांत है उसको विचार करके रखना कि जब कोई जाति समाप्त हो जाती है तो ईश्वर तो जो ईश्वर दंड देता है उसका क्या होगा यानी ईश्वर दंड नहीं दे पाएगा जो दंड उस जाति में मिलता उस दंड को तो परमात्मा दे नहीं पाएगा क्योंकि ईश्वर ने माने की गीत का दंड दिया पर गिद्धों को मनुष्य ने मार मार कर खा गए गिद्धों के नष्ट होने का कारण उनको खाना नहीं है, है? नहीं उदाहरण हो सकते हैं पर अभी जो सुना जाता है ना गिद्ध क्यों समाप्त हो गए गिद्ध क्यों समाप्त हो गई उस इलाके में बहुत बड़े इलाके में गिद्ध समाप्त हो गए थे अभी फिर कुछ दिखने लगे तो लेकिन पहले बहुत होते थे अब खत समाप्त हो गए उसका कारण ये नहीं गिद्ध को खाते नहीं है मेरी जानकारी में कोई गिद्ध को नहीं खाता है नहीं उसको भी खाने को मिलता है खाने की कोई कमी नहीं है उसका मुख्य कारण कीटनाशक दवाइयां खेतों में जो डाली जाती है उसको पशु खाते हैं वो कीटनाशक दवाई डीडीटी खासतौर से बोलते हैं और भी दवाइयां वो जानवरों के शरीर में रहती है दूध निकलता है तो दूध भी पीते हैं तो उसमें भी जाता है वो और जब वो पशु मरते हैं तो उनका मांस ये गिद्ध खाते थे इससे उनके अंडे उसका जो खोल होता है कवच वो कमजोर होते थे ये चिड़ियाओं के साथ भी है और पक्षियों के साथ भी है कि डीडीटी खासतौर से डीडीटी के, के लिए बहुत ये दुष्प्रभाव माना जाता है उसके खाने से क्योंकि तो चिड़िया आदि भी दाना चुगेंगी वो दाना भी कहां से आ रहा है ये कीटनाशकों से आ रहा है और भी कहीं से तो चक्र चलता रहता है इससे उसमें इससे उसमें ऐसे उन पक्षियों के शरीर में गिद्धों के शरीर में आया उससे उनके जो अंडे थे वो कमजोर हुए और कमजोर होने से क्या होता है वैसे ही वो उसको सेने बैठते हैं करते हैं फूट जाते हैं जल्दी से फूट जाते हैं तो उनकी संतति कम होती गई उसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के रोग भी उनमें विकसित हो गए जो कि प्रतिरोध क्षमता न होने से उनके लिए घातक हो गए ऐसी बातें मानी जाती हैं तो खा खा करके खत्म करने वाला नहीं लेकिन हाँ खत्म हो रहे हैं ये बात तो ठीक है तो ईश्वर ने माने कि गीत का दंड दिया पर गिद्धों को मनुष्य मार मार कर खा गए तो अब उस गीत रूपी दंड का क्या होगा जिस कर्म का फल गिद्ध के शरीर में मिलना था अब गिद्ध नहीं रहे तो फल कहां से मिलेगा उस कर्म फल का क्या होगा ये प्रश्न है इनका आगे है क्या उस दंड का अस्तित्व मिट जाएगा वो दंड नहीं रहा शरीर ही नहीं रहा तो इससे यह सिद्ध हुआ कि दंड को समाप्त करना मनुष्य के हाथ में है निष्कर्ष निकाला नहीं <laughs> मनुष्य ने शरीर को योनि को ही नष्ट कर दिया जैसे कि मनुष्य ने किया या वैसे हो गए पुराने समय के बड़े बड़े डायनासोर और तरह तरह के प्राणी माने जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे थे आज वैसा एक भी प्राणी नहीं है इस धरती के ऊपर तो वो तो समाप्त हो गए ये का ये प्रश्न उसमें भी था परोपकारी में आएगा उन्होंने जैसा समाधान लिख रहे हैं कि उन्होंने शेर का उदाहरण दिया था कि मान लो शेर समाप्त हो गए किसी दिन तो फिर शेर के शरीर में जिस कर्मफल के कारण जाते थे उन कर्मफलों का भोग कैसे करे होगा परमात्मा कैसे दंड देगा उसका बिल्कुल वही प्रश्न है इनका दंड को समाप्त करना मनुष्य के हाथ में है क्षमा कीजिएगा प्रश्न गलत हो सकता है पर प्रश्न है अतः जिज्ञासा भाव से पूछा है आप लोग पूछ सकते हैं कोई इसमें संकोच की क्या बात है हो सकते हैं ऐसे प्रश्न कोई अजनबी नहीं है देखो उनका भी आया हुआ है एक का प्रश्न ऐसे बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है पहले तो ये बताओ कि इन्होंने क्या सोच करके ये लिखा क्या क्या आपके मन में आया कि इस बात को कहने वाला क्या मान करके चल रहा है जो बात हम न्याय दर्शन में पढ़ रहे हैं अधिकरण सिद्धांत की वक्ता ने कुछ बोला उसकी पृष्ठभूमि में क्या ये मानता है बिना उनके बोले हमें पता लगता है कि भाई इनो ये ये मान रहे हैं इसलिए ये वाक्य बोल रहे हैं रामदेव जी इस सृष्टि के अलावा और कोई सृष्टि नहीं है इनको ध्यान में नहीं आ रही है ये इन्होंने क्यों सोचा कि यदि ये ये मानते कि अन्य भी सृष्टि है तो यहां गिद्ध समाप्त हो गए तो दूसरे लोगों में तो होंगे जो सोमदेव जी ने उत्तर ढूंढा था उसमें <laughs> इन्होंने भी उत्तर लिख रखा था उसमें भी इस सृष्टि में नहीं तो और दूसरी पृथ्वियां भी तो है वहां तो हो ही सकता है तो इन्होंने प्रश्न करते समय इनको ये ध्यान नहीं था कि अन्य भी सृष्टियां हो सकते यदि आप ये मानते कि यहां गिद्ध समाप्त हो गए लेकिन दूसरी सृष्टियों में तो कहीं हो सकते हैं तो ये प्रश्न नहीं आता ठीक है तो इन्होंने एक बात पकड़ ली कि ये आपके मन में आपके मन को पढ़ लिया इन्होंने कि ये चीज सोच करके ये बोली है व्यक्ति और बताओ आत्मीर जी तो इन्होंने इसमें तो नहीं लिखा वो पिछले प्रश्न में वो खंड प्रलय वाली बात थी ये भी हो सकता है लेकिन दूसरी सृष्टियों का मतलब है दूसरे ग्रह तो मान रहे हैं लेकिन वहां दूसरे शरीरों को नहीं मान रहे हैं यूं कह लो अगर दूसरे ग्रहों में भी गिद्धादि शरीर मानते तो ये प्रश्न नहीं करते ये हो सकता है जो आप कह रहे हो कि वो ग्रह उपग्रह तो मान रहे हैं लेकिन वहां दूसरे शरीर नहीं मान रहे हैं एक ही बात है अगर शरीर मान रहे हैं तब तो अगर अब अब ये बात आएगी कि अगर दूसरे ग्रह भी मानते हो वैसे पहले आप हाँ भर चुके हो इनके उसमें अब आप बदल रहे हो तो कोई बात नहीं है मान लो ग्रह भी हैं वहां यही शरीर भी है यानी गिद्ध आदि भी वहां पर है फिर भी इनका प्रश्न है तो क्या इनका मान्यता रही होगी जो ये प्रश्न कर सकते हैं ध्यान देना इस बात पे पहले हम ये सोच रहे थे कि दूसरे ग्रह नहीं है ऐसा मान के कथन कर रहे हैं उन्होंने कहा नहीं दूसरे ग्रह मान सकते हैं तो फिर ये आएगा कि वहां दूसरे शरीर नहीं है ये मान करके कर रहे बोले नहीं दूसरे ग्रह भी मान रहे हैं दूसरे शरीर भी मान रहे हैं वहां पर यानी वहां भी गिद्ध आदि हैं फिर भी ये प्रश्न किया जा रहा है तो ये आप क्या मान रहे होंगे कैसे ये प्रश्न उठ गया इस सिस्टम जो हमारा इस सृष्टि वाले आत्मा को इसी सृष्टि में जन्म मिलेगा दूसरी जगह नहीं मिल सकता तब प्रश्न उठेगा क्या या तो ये मानो आप अगर ये भी नहीं मानते हो तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी प्रश्न उठा है आप प्रश्न कर रहे हो तो इन जो पृष्ठभूमिया बताई इनमें से कोई ना कोई आपकी अवश्य होगी हाँ शक्ति नंदन जी कर्म का फल है उसी में ये बात ये मानते हैं किसी कर्म का फल किसी निश्चित शरीर में निश्चित योनि में ही मिलता है ये भी ये मानते हैं आपने जो प्रश्न रखा उसके पीछे आपके मन में ये भाव है ये मान के चल रहे हैं कि इस कर्म का फल इसी शरीर में मिल सकता है गिद्ध कर ऐसे कर्म जिनका फल गिद्ध शरीर में ही मिल सकता है वो कौवे के शरीर में नहीं मिल सकता है वो शेर के शरीर में नहीं मिल सकता ऐसा मान करके ये कथन किया गया है ठीक है बिल्कुल ठीक पकड़ा इन्होंने अभी नया प्रश्न मत रखो आपके मनो को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना आपकी क्या पृष्ठभूमि थी एक शैली है चूंकि ये तो हमारा प्रशिक्षण ही है एक तरह का तो पीछे व्यक्ति के क्या भाव रह सकते हैं ये प्रश्न कर रहा है इसका मतलब है ये कुछ न कुछ मान करके ही तो प्रश्न कर रहे हैं ना वो क्या मान करके कर रहे हैं वो भी हमें जब पता लग जाता है जो इन्होंने बोला वो और क्या मान करके ये प्रश्न करते हैं उन बातों का भी हमें पता लगता है तो हम उत्तर दे सकते हैं कि इसकी पिछली मान्यता पे हम उत्तर दें वो मान करके कि इसका वही आधार खंडित कर दें या यहां उत्तर दें हमारे पास बहुत से विकल्प आ जाते हैं वहां कहीं भी एक जगह करके उत्तर दे सकते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर दें या आप प्रश्न और रखेंगे बोलो जैसे ईश्वर का जो दंड दिया जाता है ईश्वर के द्वारा जो दंड दिया जो ये हम्म। वो ये भी जिस प्रकार के कृष्ण हम्म। है जैसे कैसे भी समाप्त वो समझ सकते तो वो तो आप अपने प्रश्न को ही दोहरा रहे हो कोई नई बात नहीं कही प्रश्न वही अभी इन्होंने यही बोला कि मनुष्यों ने किसी शरीर को नष्ट कर दिया जाति को ही नष्ट कर दिया तो उतने अंश में तो परमात्मा के कर्मफल व्यवस्था को बाधित कर दिया परमात्मा के पास में बहुत सारे विकल्प हैं ऐसा हम नहीं मान सकते कि इस कर्म का फल इसी शरीर में मिलेगा ऐसा नहीं उस तरह का फल यहां भी भोग सकता है वहां भी भोग सकता है भिन्न भिन्न शरीरों में भोग सकता है इसलिए निर्धारित नहीं है हाँ आप ये कह सकते हो कि इस तरह का शरीर मिलेगा मोटा निर्धारण कि इस तरह के कर्मों का फल इस तरह के शरीरों में मिलेगा यानी वृक्ष आदि वनस्थावर योनियों में मिलेगा सरिसृप में मिलेगा ये वर्गीकरण तो कर सकते हो आप मोटा मोटा लेकिन बिल्कुल वो गिद्ध ही हो गिद्ध ही हो दूसरा पक्षी नहीं हो सकता है चील नहीं हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हम ये मान के चलते हैं साथ में कि ईश्वर ऐसा शक्तिमान है कि उसके कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता ठीक है आज नहीं हो सकता है किसी आंशिक रूप से हम बाधा डाल देते हैं लेकिन भिन्न स्थान पर भिन्न समय में वो कर देगा कैसे भी कर सकता है उसके पास बहुत अधिक विकल्प हैं दूसरे ग्रह उपग्रह वाला भी इसमें है अन्य ग्रह उपग्रह में भी दे सकता है वो कब कह रहे हूं ये यदि ये माना भी जाए कि इस निश्चित कर्म का फल निश्चित शरीर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता ऐसा यदि माना जाए तो अभ्युपगम से तो भी परमात्मा के पास विकल्प है अन्य सृष्टियों में भी अन्य ग्रह उपग्रहों में भी इस तरह के प्राणी हो सकते हैं वहां दे देगा वो कोई कहे कि नहीं सभी जगह से नष्ट हो जाएगा उसकी संभावना बहुत कम है लेकिन हो भी जाए तो भी विकल्प है अन्य शरीरों के अंदर दे देगा उसी जैसे और दूसरे जो होते हैं उनमें दे देगा इसलिए कर्म का फल जो परमात्मा को देना है वो कभी भी दे सकता है कहीं भी दे सकता है किसी रूप में दे सकता है और उससे थोड़ी आगे की बात मैं बोलूं कि कर्मों का फल सुख या दुख जो भी है सुख के साधन या दुख के साधन प्रगति के अवसर या प्रगति का अवसर न होना किसी भी रूप में माने उसका कोई निश्चित रूप नहीं होता है यदि एक बच्चा कोई त्रुटि करता है गलती करता है तो अध्यापक के पास में उसको दंड देने का एक ही उपाय होता है या कई उपाय होते हैं कई उपाय होते हैं तो भाई निश्चित कर्म का तो निश्चित ही फल होना चाहिए अनेक उपाय कैसे हो गए अन्याय हो रहा है उसको डांट भी सकता है थप्पड़ भी मार सकता है उसको थोड़ी देर खड़ा भी रख सकता है ठीक है उसको हाथ खड़े करवा सकता है उसको उकड़ू बना सकता है मुर्गा बना सकता है दंड बैठक लगवा सकता है ठीक कुछ सेवा का कार्य दे सकता है बहुत सारे विकल्प हैं इन विकल्पों से क्या दंड में भिन्नता आ जाएगी तरीका है इस तरह भी दे सकता है उस तरह भी दे सकता है हाँ मात्रा निश्चित होनी चाहिए जितना कर्म है उतनी ही मात्रा मनुष्य या अध्यापक में ये भिन्नता हो सकती है वो नियंत्रण नहीं रख सकता पूरा लेकिन परमात्मा तो रख सकता है जितना देना है उतना ही देगा वो इधर उधर नहीं हो सकता तो मनुष्य के पास भी जब इतने विकल्प हैं तो परमात्मा के पास तो बहुत विकल्प हैं इसलिए किसी जाति के समाप्त होने पर परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते वो फिर भी लागू है और उस दंड का अस्तित्व तो फिर भी बना रहेगा ये बात है बोलो इनका प्रश्न है कि परमात्मा ने ये फिर विभिन्न शरीर क्यों बनाए अलग अलग कोई तो कारण होगा बिल्कुल होगा कोई तो कारण होगा उसमें कर्मफल भोग भी है और इन जीवों का परस्पर सामंजस्य तालमेल एक दूसरे से दूसरे की पुष्टि सहयोग वो भी कारण है बहुत सारे कारण है वृक्ष वनस्पतियों ऐसी बनी है जिससे हम खा सकते हैं हमारा शरीर ऐसा बना है कि हम उसे खा सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं जीव जंतु ऐसे बने मच्छर वच्छर की मेंढक खाते रहते हैं देखो यहाँ सड़क पर बैठे हुए निकलते हैं शाम को इतने बाहर निकल के आते हैं ना किस लिए आते हैं उनको खाने के लिए आते हैं वो परस्पर एक दूसरे के लिए ईश्वर ने व्यवस्था ऐसी कर रखी है प्रयोजन है सबके लेकिन कोई एक जाति समाप्त हो गई तो दूसरी समाप्त हो ही जाए ये आवश्यक नहीं है बाधाएं होती हैं ये सब माना जाता है ठीक है व्रत मनी जी जी सारी जाति सारी तो क्या है मन में ये भी भावना है कि सृष्टि के बीच में है मैं सही सृष्टि नहीं कर सकता जब परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में सारी सारी सृष्टि है मैं सही होंगी तो सृष्टि के बीच में नहीं होती है हाँ मतलब सृष्टि के बीच में ये थोड़ा दूर जाकर के परिकल्पना इन्होंने की आपकी पृष्ठभूमि है कि ईश्वर बीच में नई नई जाति को पैदा नहीं कर सकता नई जाति को जो जिस जाति को मनुष्य ने लुप्त कर दिया है तो वो नई जाति को उत्पन्न नहीं कर सकता ये भी एक माना जा सकता है इसमें वैसे वैज्ञानिक ये मानते हैं आ, कितनी प्रजातियां समाप्त हो रही हैं अभी होती है ना पेड़ पौधे वनस्पतियां भी समाप्त हो रहे हैं जीव जंतु भी बहुत से समाप्त हो रहे हैं उनकी विविधता कम हो रही है फिर भी बहुत अधिक है और कुछ जातियां नई नई भी विकसित होती हैं नए रूप में बिल्कुल नए रूप में नए स्वरूप में नई क्षमताओं से युक्त पैदा भी होते रहते हैं ये भी साथ में जैसे जीव जंतु नष्ट होते हैं ऐसे नए नए पैदा भी होते हैं उन्हीं में ही ऐसी संरचना में भेद हो जाता है कि एक नई प्रजाति जैसी बन जाती है अब बंदर है बंदर भी कई अलग अलग तरह के हो गए घोड़े भी हैं तो घोड़े भी अलग अलग प्रजातियों के हो गए अलग अलग नस्ल के हो गए अलग अलग तरह के हो गए उनमें बहुत उनमें बहुत भिन्नता हो जाती है जैसे बैक्टीरिया वायरस और इनके बारे में तो सुनते ही रहते हैं वो अपना रूप बदल देते हैं बिल्कुल नए स्वरूप में आ जाते हैं एकदम नए स्वरूप में आ जाते हैं ऐसी संरचना कर देते हैं परिवर्तित कर लेते हैं कि दवाइयां उन पर काम ही नहीं करती हैं एकदम नया रूप बन जाता है स्वयं बदल लेते हैं वो ऐसा भी हो सकता है हाँ, सुकामा जी हाँ ईश्वर की शक्ति मत्ता पे ये प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा ने तो उत्पन्न किया और हमने मनुष्यों ने नष्ट कर दिया तो परमात्मा की कहां चली उसका व्यवधान कर दिया ऐसा नहीं है परमात्मा ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है हम कर सकते हैं उससे परमात्मा ने ये तो नहीं निर्धारित किया कि चलेंगी ही इतनी ही चलेंगी अगर ऐसा सब कुछ होता तो फिर कर्म की कोई स्वतंत्रता नहीं होती हम दूसरे को सुख भी दे सकते हैं दुख भी दे सकते हैं न्याय अन्याय कर सकते हैं ठीक है हम सब परमात्मा के नियमों का भंग भी करते हैं पालन भी करते हैं तो यदि सब कुछ बिल्कुल निश्चित होता हम कुछ कर ही नहीं सकते होते तब तो कर्मफल व्यवस्था ही नहीं रहती कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहती तो कर्मफल व्यवस्था भी नहीं रहती इसलिए इस सृष्टि के चलने कर्मफल व्यवस्था के लिए कर्म की स्वतंत्रता मानना आवश्यक है और कर्म की स्वतंत्रता है तो एक सीमा तक ये चीजें होंगी वो परमात्मा के द्वारा स्वीकृत है परमात्मा के द्वारा स्वीकृत है अब जीव जंतु ही क्यों यू तो प्रकृति में बहुत से परिवर्तन कर रहा है मनुष्य तो उनके लिए भी प्रश्न उठ सकता है लेकिन वो किया जा सकता है अब परमात्मा ने घर बना के तो नहीं दिए लेकिन हम तो घर बना लेते हैं ईश्वर की शक्तिमत्ता का विरोध हो गया ना परमात्मा ने तो हमारे लिए छत क्या दी थी क्या छत दी थी परमात्मा ने आकाश आकाश तो छत होती ही नहीं है धूप से कहा बचेंगे आकाश से बारिश से कहा बचेंगे आकाश से आकाश तो छत नहीं है वही उसने पेड़ पौधे दे दिए जैसे पक्षी हैं गुफाएं दे दी मान लो तो पेड़ पौधों पेड़ पौधों के नीचे पक्षी भी तो रहते हैं पशु भी तो रहते हैं वो भी तो कहीं धूप से बसते हैं वो भी तो कहीं बारिश से बसते हैं और नहीं तो खुले में भी रहते हैं लेकिन हमने देखो ये बना लिया परमात्मा की शक्तिमत्ता पे प्रश्न जब जब कोई नई चीज आती है तो व्यक्तियों को लगता है जैसे कि परमात्मा का अस्तित्व तो रहा ही नहीं विज्ञान ने स्वयं अपने हाथ में इतना अधिकार ले लिया सर्वशक्तिमान बन गया कि परमात्मा तो फिर रहा ही नहीं क्योंकि जिस चीज को हम मानते थे ये परमात्मा करता है उसको मनुष्य ने कर दिया तो बोले मनुष्य ही परमात्मा बन गया फिर परमात्मा क्या हुआ इस तरह के प्रश्न आजकल की नई चीजों पर भी किए जाते हैं जैसे कि क्लोनिंग जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं ना बहुत जगह कि मनुष्यों ने कृत्रिम अंग बना लिए एक मनुष्य का गुर्दा निकाल के दूसरे मनुष्य के लगा दिया तो सारी प्रकृति को और परमात्मा को अपने हाथ में ले लिया ना परमात्मा ने वो गुर्दा किसके लिए बनाया था उस मनुष्य के लिए तो मनुष्य ने वहां से का हटा करके इसके लगा दिया खून उसका था उसका खून निकाल के इसके खून चढ़ा दिया परमात्मा ने वो खून किसके लिए दिया था उसके लिए दिया था जिसका खून है वो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं पर खून वून इधर चढ़ा लेते हैं गुर्दा चढ़ा लेते हैं हृदय का या कुछ कोई धमनी भी इधर से उधर कर देते हैं उस पर तो ज्यादा प्रश्न नहीं करते लेकिन ये क्लोनिंग का और टेस्ट ट्यूब बेबी का बड़ा लगता है कि ये तो फिर परमात्मा की व्यवस्था में पूरा हस्तक्षेप कर दिया मनुष्य तो ये तो या तो परमात्मा है ही नहीं और यदि है भी तो ये तो आज का विज्ञान ही परमात्मा बन गया है इसने मनुष्य आज इतना शक्तिशाली बन गया है कि ईश्वर को भी उसने अपने अधीन कर लिया है अभी मैं जोधपुर गया था कुछ दिन पहले तो वहां वो कार्यक्रम था तो उसमें ये भी प्रश्न एक ने रख दिया भोजन की प्रतीक्षा चल रही थी तो खड़े खड़े बोले चलो जी कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे तो पूछो तो यही प्रश्न रख दिया उन्होंने तो ताकि अच्छा चलो मनुष्य ने परमात्मा की व्यवस्था को कैसे खंडित किया इन दो उदाहरणों को ले लो क्लोनिंग का ले लो या टेस्ट बेबी का ले लो एक एक को लो तो टेस्ट ट्यूब बेबी ले लो चलो सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब ऐसी बेबी ऐसा बच्चा ऐसा शिशु जो टेस्ट ट्यूब में पैदा होता है ऐसा ही तो सोचते हैं वही जिसको पूरी प्रक्रिया नहीं पता है वो तो क्या सोचेगा टेस्ट ट्यूब बेबी बोले टेस्ट ट्यूब क्या होता है वो परख नली होती है ना प्रयोगशाला टेस्ट ट्यूब होती है ट्यूब मतलब तो नली और टेस्ट मतलब जिससे परीक्षण कर रखते हैं परख नली बोलते हैं हिंदी में परीक्षण नली परख नली तो उस परक नली में इस बेबी को पैदा कर दिया तो परमात्मा ने तो माँ के गर्भ में व्यवस्था की थी और विज्ञान ने टेस्ट ट्यूब उसमें टेस्ट ट्यूब में कर दिया <laughs> परमात्मा का देखो शक्ति का उल्लंघन कर दिया ना तो टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है उस ट्यूब के अंदर बच्चा पैदा नहीं होता है बच्चा तो माँ के गर्भ में ही बनता है वहां केवल पुंबीज और स्त्री बीज को मिला के थोड़ा सा विकसित होता है कुछ समय के लिए जब वो कुछ कोशिकाएं बढ़ जाती हैं बड़ी हो जाती हैं तो उसको लेकर के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जैसे एक प्राकृतिक गर्भ गर्भाशय में टिकता है अपना जगह बनाता है जड़ें जमाता है माँ से खून लेता है ऐसे वो भी जाता है वहीं पर ही माँ की गर्भाशय की भित्ति में वो प्रवेश करता है वहां रुकता है और वहां ही वो विकसित होता है तो वैज्ञानिकों ने क्या किया केवल थोड़ा सा ही तो भेद किया है और उसमें जो आत्मा भेजी थी वो किसने भेजी थी तो चाहे आप टेस्ट ट्यूब में भी कर लो चाहे प्राकृतिक कर लो जो भी है आत्मा तो परमात्मा ही भेजता है किस आत्मा को वहां भेजना है किसके कर्म फल है वो तो परमात्मा ही भेजता है दूसरा पुरुष बीज और स्त्री बीज को तो उनको लेना पड़ा वो कहा बने थे वो पुरुष शरीर में बने थे स्त्री शरीर में बने थे वो तो वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया उनको केवल मिलान ही तो वहां पर किया है थोड़ी दिन तो वहां पर रखा है और वहां भी प्रकृति के ईश्वर के समस्त नियमों के अनुरूप रखा है जो स्थिति जो तापमान जो पोषण मां के गर्भ में मिलता था वो वहां पर उन्होंने तैयार किया है प्रकृति का जो व्यवस्था नियम थी उसके अनुरूप व्यवस्था को मां के गर्भ की बजाय कुछ दिन के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी में टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब में बनाया बस इतना ही तो अंतर है किस नियम का उल्लंघन किया कुछ भी नहीं सारा नियम वो का वही है तो इससे परमात्मा की शक्ति को चुनौती कहां मिल गई परमात्मा की व्यवस्था को चुनौती कहां मिल गई दूसरा क्लोनिंग का कैसे परमात्मा को चुनौती मिल गई क्लोनिंग में क्या करते हैं क्लोनिंग का आपने एक प्रसिद्ध भेड़ का नाम होता है डॉली नाम की भेड़ थी वो क्लोनिंग में बिल्कुल बच्चा वैसा होता है जैसे माता पिता जो होते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा होता है वो इसमें भी जो कोशिकाएं ली जाती हैं जो कोशिका केंद्रक लिया जाता है यानी जीन्स लिए जाते हैं बीच का जो भाग लिया जाता है वो प्रकृति से ही जैसा बनता है वहीं से लिया जाता है और उसको भी मां के गर्भ में ही स्थापित किया जाता है और वो बन जाता है अंतर क्या होता है क्लोनिंग के अंदर क्यों वो बिल्कुल वैसा का वैसा बनता है प्राकृतिक जो जन्म होता है उसमें आधे गुणसूत्र मां से आते हैं आधे पिता से आते हैं तब एक कोशिका बनती है पूरी और फिर उसका विभाजन होते होते होते फिर ये पूरा शरीर बनता है वो एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि तो अलग अलग तरह के हैं तो वैज्ञानिकों ने क्या किया एक जैसा बनाने के लिए कि यदि एक ही व्यक्ति से ले लिया जाए कोशिका को और उसको विकसित कर दिया जाए तो एक जैसा हो जाना चाहिए लेकिन किसी कोशिका से ऐसे बच्चा बन नहीं सकता वो गर्भाशय में रह नहीं सकता बढ़ेगा नहीं प्रक्रिया नहीं होगी तो स्त्री बीज को स्त्री डिम्बाणु को उन्होंने लिया जो कि एक कोशिका जैसा होता है आप समझिए गोल है उसके अंदर आधे क्रोमोजोम है आधी कोशिका है उसको खोल देते हैं अंदर की जो आधी कोशिका है वो तो हटा देते हैं अंदर का भाग तो हटा दिया और जिसके जैसा बनाना है उसकी एक कोशिका ली उसके अंदर का पूरा का पूरा उठा लिया बाहर का खोल उसका हटा दिया तो अंदर के जो जितने जीन थे केंद्रक था वो निले करके और मां का जो ये डिम्ब था ओवम था उसके अंदर लगा दिया खोल वो का वो है इस खोल की क्या विशेषता होती है कि जैसे ये गर्भाशय में जाता है तो इसमें से जड़ की तरह से प्ररोह निकलते हैं जैसे जड़ जमीन में जाती है और पकड़ करती है ऐसी ये कोशिका भी आगे बढ़ करके फिर बढ़ करके उसमें प्ररोह निकलते हैं वो माँ के दीवार में धसते हैं वहां से उसको खून लेते हैं पोषण प्राप्त करते हैं उसकी एक प्रक्रिया है तो माँ का डिम्ब लिया ओवम लिया अंदर का जो क्रोमोजोम थे आधी कोशिका थी उसको निकाल दिया खोल खोल रखा और दूसरे उसी जाति का कोई भी जो प्राणी है उसकी कोशिका ली पूरी उसके अंदर का जो पूरा था पूरी कोशिका का अंदर का भाग वो ले लिया खोल हटा दिया वो लेकर के इस खोल में डाल दिया अब ये एक पूरी कोशिका हो गई क्योंकि इसमें पूरे क्रोमोजोम है अब इसको थोड़ा सा विकसित करके कितने दिन या क्या करते हैं पूरी प्रक्रिया मेरे को नहीं पता लेकिन वो करके वापस मां के गर्भ में स्थापित किया जाता है उसको फिर वहां पर वो विकसित होकर के जैसे स्वाभाविक जन्म होता है ऐसे उसका भी जन्म होता है ये क्लोनिंग है अब इस प्रक्रिया में भी ठीक है उन्होंने इधर से लेके उधर किया इतना ही तो किया क्रोमोजोम के बिना नहीं किया डिम्ब के बिना नहीं किया मां के गर्भाशय के बिना नहीं किया अथवा जो जो पोषण आवश्यक है उस प्रक्रिया का अनुसरण किया प्रकृति में जो प्रक्रिया थी उसका अनुसरण किया एक बात आप ध्यान रखिए वैज्ञानिक प्रकृति के किसी नियम को बदलता नहीं है प्रकृति के नियमों को खोज करके उसका उपयोग करता है उपयोग गलत कर सकता है गलत उपयोग होगा इतना तो ठीक है लेकिन विज्ञान की कोई भी खोज प्रकृति के नियम के विपरीत नहीं होती है प्रकृति में जो नियम देखते हैं उसी को वो कहते हैं उसी के अनुरूप कोई चीज बनाते हैं प्रक्रिया दूसरे ढंग से कुछ हो सकती है नहीं तो इस इस क्लोनिंग में भी आत्मा परमात्मा ही भेजता है प्रक्रिया सारी वो की वो रहती है तो इस तरह की जो भी बातें हैं ये उनके परमात्मा का खंडन होगा जो परमात्मा को एक विशेष प्रकार का बोलते हैं परमात्मा की विशेष शक्तियां बोलते हैं अन्य मत संप्रदाय वालों का उनका परमात्मा खंडित होगा उनके परमात्मा की शक्तियों का क्षीणता कही जा सकती है वैदिक धर्म के ईश्वर की तो नहीं कही जा सकती तो हम ईश्वर का स्वरूप ही ऐसा मानते हैं उन लोगों का ईश्वर खंडित होगा वो कहते हैं नहीं जन्म मरण तो परमात्मा पे ही निर्भर है ऐसा मानते हैं परमात्मा का ऐसा स्वरूप मानते हैं उनको लगेगा कि जैसे किसी ने मार दिया तो कहेंगे ये तो परमात्मा की शक्ति का खंडन हो गया या कहेंगे परमात्मा ही ऐसा चाहता था एक समय था कि जन्म और मरण लड़का होगा लड़की होगी कब होगा नहीं होगा ये सारा का सारा परमात्मा निर्धारित करता है एक समय ऐसा सोचा जाता था बाद में था कि ये तो मनुष्य के भी हाथ में कब जन्म देना है कब नहीं देना है तो ईश्वर खंडित हुआ तो किन का वो गलत मान्यता वालों का कर्म की स्वतंत्रता का सिद्धांत हम पहले से ही मान रहे हैं उनसमन संस्कार गर्भा गर्भाधान संस्कार और सीमंतो नयन आदि ये संस्कार गर्भावस्था में उससे पहले के हमारे यहां पहले से निर्धारित है बोले कि हम ये जेनेटिक्स के द्वारा उत्तम उत्तम शरीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक इससे तो ईश्वर की व्यवस्था खंडित हो जाएगी कर्मफल व्यवस्था भाई हमारे यहाँ संस्कारों में पुंसवन आदि संस्कारों से उत्तम संतानों की बात तो ऋषि पहले से ही स्वीकार करते हैं ऐसा हम कर सकते हैं परमात्मा ने हमें ये अधिकार दिया है हम अच्छी संतान असली अच्छी नस्लें पैदा कर सकते हैं उत्तम उत्तम करना चाहिए श्रेष्ठ पशु गाय हो दुधारू गाय हो इत्यादि इत्यादि वेदों में प्रार्थनाएं हैं और इस संस्कार की प्रक्रिया विज्ञान के द्वारा ये सब करते हैं तो कर सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है बीज से पौधा पैदा होता है अब आजकल कोशिकाओं से भी जो छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं उससे भी पौधे उत्पन्न कर लेते हैं जो पौध तैयार करते हैं वनस्पति शास्त्री जो इतनी सारी पौधे इकट्ठी पौधे पैदा हो जाती हैं वो बीज से नहीं होती हैं सारी कोशिकाओं से वो विकसित कर लेते हैं और वो बन जाते हैं ऐसी व्यवस्था है ईश्वर ने कर रखी है वो होती है ये ईश्वर के विपरीत नहीं है हमें ईश्वर की व्यवस्था पता नहीं हम ईश्वर को कुछ और भिन्न रूप में मान लेते हैं और विज्ञान कोई नई खोज करता है तो हम कहते हैं ये तो ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे दी वैज्ञानिकों ने ईश्वर से भी बड़े बन गए तो ईश्वर का गलत स्वरूप मान करके हम ऐसा कहते नहीं तो ईश्वर की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता जितना परमात्मा ने स्वतंत्रता दे रखी है उसमें मनुष्य ऊंच नीच कर सकता है अच्छा और बुरा उतना तो ठीक है वो तो परमात्मा ने ही दे रखी है बाकी व्यवस्था परमात्मा की है रहेगी उसमें कोई चुनौती नहीं हो सकती ठीक है रखते हैं